अष्टादशाध्याय यजुर्वेदस्यान्त्य चत्वारिंशत् समाध्यायस्य तृतीयो मन्त्रः पठिष्यते व्याख्यायते च ॐ सूर्यानामते लोका समाधि आत्मावेत्ता अनुष्ठित छंद गांधारस्य करो वर्तते इस मंत्र का दीर्घ आत्मावेत्ता अनुष्ठित छंद और गांधार है अथ आत्महंता जना की दिशा क्या अब आत्मा के करता अर्थात आत्मा को भूले हुए जन कैसे होते हैं इस विषय को इस मंत्र में कहा है पदार्थ संस्कृत भाषाया असूर्या अशुवानाम प्राण पोषण तत्णाम अविद्यादिता संबंधिन नाम प्रसिद्ध ते लोका लोकंते पश्यन्ति तेजा अंधेन अंधकार रूपेण तमसा अत्यावर्तेण आवृत्ता सहनता आच्छादिता तान दुख अंधकार आवृत्तान भोगान ते प्रेत्य मरण प्राप्य अति जीवंतो अपि गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति ये के च आत्मसनः ये आत्मानं ग्रन्थि तद्विद्धम् आचरन्ति ते जना मनुष्या पदार्थ जो लोका देखने वाले लोग अन्य अंधकार रूप तमसा ज्ञान का आवरण करने हारे अज्ञान से आवृता सब ओर से ढके हुए च और ये जो कि कोई आत्म आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले जरा मनुष्य है से उन्हें असूलिया अपने प्राण पोषण में तत्पर अविद्या लोगों के संबंधित उनके पाप का कर्म करने वाले नाम प्रसिद्ध में होते हैं एक हुए प्रेत मरने के पीछे अति और जीते हुए भी काम उन दुख और अज्ञान रूप संसार से युक्त भोगों को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं भावार्थ वे भी मनुष्य असुर दैत्य राक्षस तथा पिशाच आदि हैं जो आत्मा में और जान से वाणी से और बोलते और करते कुछ भी कुछ ही है वे कभी अविद्या दुख सागर से पार हो आनंद को नहीं प्राप्त हो सकते और जो आत्मा मन वाणी और कर्म से निष्कपट एकता आचरण करते हैं वे भी देव आर्य सौभाग्यवान सब जगत को पवित्र करते हुए इस लोक का परलोक में अतुल भोगते हैं इसी वेद का अध्याय वेद मंत्र में से और स्वार्थ से उतर क्रोध उनके सदृश कर्म करने वाले और अपने आप आत्मा के ज्ञान के विरुद्ध कर्म करने वाले उनकी अवस्था क्या है उनकी अवस्था बताई गई कि इस जन्म में भी दुख को प्राप्त करते हैं और अगले जन्म में ही दुख को प्राप्त करेंगे सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता ये लोग इस जन्म में भी विविध दुख को प्राप्त करते हैं और अगले जन्म में भी दुखों को प्राप्त करते हैं उनका नाम असुर है उनका नाम पिशाच है उनका नाम कटु शब्दों में कहो तो उन्हीं को पापी कह दो तो ये जो लोग हैं ये कौन हैं एक बात ये कही थी कि जो अपने प्राणों के पोषण में लगे हो मनुष्य शरीर पा करके व्यक्ति और ये सोचता है कि मैं अपना कल्याण कर डालू अपना भला करूं इसी सिद्धांत को लेकर व्यक्ति सब कुछ करता है पर होता उल्टा है उल्टा परिणाम होता है इसका परिणाम ये होता है जितना जितना व्यक्ति ये जानता मानता है कि मैं अपना भला कर लू और दूसरों की उपेक्षा या दूसरे को हानि पहुंचाते के लिए अपना भला को उतना उतना वो महा दुख को प्राप्त होता जाता है परिणाम उल्टा है तुलना तो कीजिए कि आज समाज में राजनीति में दूसरी जगह पर व्यक्ति की जो प्रवृत्ति देखी जाती है उसका लक्ष्य देखा जाता है ये मुख्य रूपेण ये मिल रहा है कि वो अपना भला सबसे पहले करना चाहता है इतना ही नहीं अपना भला करना चाहता है दूसरों की हानि पहुंचा के अपना भला करना चाहता है एक रोचक कथा आई है मैंने किसी ने सुनाई कथा कुछ भी हो एक बात समझानी है एक कोई ऊंचे अधिकारी थे और उसके साथ साथ सेवक काम करते हैं आपने देखा हो बड़े बड़े कार्यालयों में देखा होगा इसको पानी ले लाना सेवक के रूप में रहते हैं अब बताया किसी ने कि भाई वो जो ऊंचा अधिकारी था उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और वो सेवक जो है कई बार इतने डरते हैं इतने डरते हैं और पीछे पीछे हटते जाएंगे पीछे हटते जाएंगे तो सामने नहीं आना पड़ेगा बड़ा धीरे धीरे बोलते हैं आज की भाषा में क्या बोलते हैं बाबू जी आपकी पिताजी जी बच्चे बाबू जी आपकी पिताजी के बच्चे हो और वो सुने ही नहीं है अधिकारी वो अधिकारी सुने ही नहीं वो बेचारा धीरे धीरे बोले वो इधर कभी उधर बाबू जी आपकी उसमें एक बात बताई कि दूसरा व्यक्ति बैठा था वो आज मिनट जानने वाला वो कहने जब भले व्यक्ति तू ऐसा मत कर इसको सुनाना हो तो कम से कम लाल लाल रंग का बीस का नोट सामने रख दे फिर बात कर कल्पना की होगी उसने बीस का नोट सामने रख दिया ये ऐसी लाल लाल और कहने का बाबू जी आपकी पिताजी की तो मृत्यु अच्छा तो आंख खुल गई अब ये हालत है नीचे से लेकर ऊपर आज तो हम यहां तक सुनने लग गए कि सच्चाई क्या है हम पता नहीं हमको जो सुनाई दिया वो सुना रहे प्रधानमंत्री तक रिश्वत लेते आगे आपको पता होगा होगा ये दिमाग खराब कराया सारे बिगाड़ किया भोगवादी केवल भौतिकवादी ने दिमाग खराब किया तो असुर लोग पिशाच लोग अज्ञान से आवृत लोग जो हैं उन्हीं के अनुसार जो व्यक्ति काम करता है वो भयंकर दुखों को प्राप्त करता है जितना जितना व्यक्ति स्वार्थी बनता जाता है उतना उतना दुख को प्राप्त करता जाता है कारण क्या है कारण एक ही है मनुष्य के जीवन में धर्म नाम की चीज है और एक अधर्म नाम की चीज है और धर्म और अधर्म केवल ईश्वर की आज्ञा के अनुसार होते हैं अर्थात ईश्वर जिस काम को करने का आदेश देता है वह धर्म है और जिस काम को करने का निषेध करता है वह आपका धर्म अधर्म है केवल परिभाषा ये ये परिभाषा है अब जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध चलता है वह सुख को प्राप्त नहीं करता नहीं कर सकता ईश्वर का आदेश है परोपकार करो दूसरों की हानि मत करो आदेश का पालन न करने वाला व्यक्ति सुखी कभी नहीं होता आप ये कहेंगे और ये मन में आएगा कि आज तो बड़े सुखी हैं ये लोग जो जो ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं वो दुखी और जो ईश्वर के आदेश का पालन नहीं करते वो सुखी अच्छा जो रिश्वत नहीं लेते वो दुखी और जो रिश्वत लेने वाले सुखी जो सत्य बोलते हैं वो दुखी दुखी और जो झूठ बोलते हैं वो सुखी सुखी जो चोरी करते हैं वो सुखी जो दान देते हैं वो दुखी ऐसा है या नहीं ऐसा आपको दिखता है और इस स्थिति को देख करके आज व्यक्ति घबरा चुका है उसके पैर लड़खड़ाए या तो संदेह के स्थल पर पड़ा है या बिल्कुल भौतिकवादियों का सिद्धांत मान लिया दो स्थिति है और क्या हुआ कोई व्यक्ति विशेष योगाभ्यास करने वाला और पूरा ईश्वर पर विश्वास करने वाला ये तैयारी कर रहा हो और ये युद्ध करने के लिए तैयार हो कि मैं इस अन्याय को हटा के छोड़ूंगा भले ही कुछ टिका हुआ हो नहीं तो या तो व्यक्ति इस झूठे भौतिकवाद को मान चुके हैं या वो समझने में पड़े हुए नीचे से लेकर ऊपर तक व्यक्ति की स्थिति इतनी भयंकर हो गई है कि वो उसके दिमाग में ये बात ही नहीं रहती कि सत्य बोलने वाला सुखी होता है हम कुछ संस्था का काम करवा रहे थे न्यास का और वो जो अधिकारियों के पास में जाते हैं ना इस ये करवाओ वो करवाओ ये इनसे आज्ञा लो हमने देखा ये क्या करते हैं कैसे करते हैं अब वहां पर जो गतिविधि जांच हो रही है वो ये हो रही है कि नीचे से लेके ऊपर तक अत्यंत अन्याय झूठ छल कपट और बिना चालाकी के झूठ छप के कोई काम होता ही नहीं दिख रहा इतनी भयंकर बात न्याय नाम की चीज नहीं मिल रही रहती पर एक बात ध्यान से सुन लो किसी को यह भ्रांति हो गई हो ये ये लोग सुखी हैं बिल्कुल सुखी नहीं कहा जाता है ये कारों में चलते हैं कहा जाता है ये विमान में चलते हैं कहा जाता है इनके पास में कई कई नौकर होते हैं है जी सब कुछ दूसरे ही करते हैं और ये तो आता है भोजन और खा लेते हैं आप देखना इनकी हालत अवस्था देखो ये भोजन खाने लगते हैं ना अच्छे से अच्छा बनाते हैं और घरों में जो भोजन बनाते हैं एक कई बार हमने देखा कटोरी पे कटोरी कटोरी पे कटोरी कटोरी पे कटोरी कितनी कटोरी होती थाली में कई बार तो छह छह छह सात सात तो हो जाती होंगी एक थाली में इतनी कटोरी अब वो खाने बैठता है और खाने बैठता दूर बाज आ गया कलकत्ता बम्बी से एक कटोरी को देखा फिर दूसरा आ गया फिर तीसरी को देखा फिर तीसरा आ गया तेरे से देखा और हलो और फिर फिर एक खाता फिर दूसरा ये हो रहा है हलो और वो कटोरी वहीं पड़ी रहेगी झूठा पड़ा रहेगा उसको एक ग्रास का स्वाद नहीं आया अब बताइए सुखी है या दुखी है है जी बोलो जी ये सुखी है लोग दुखी है मां दुखी नरक में पड़े घोर नरक भोग कलकत्ता में लंबे काल तक मैं रहा और उस समय की स्थिति थी करोड़पति व्यक्ति को आज की अपेक्षा बहुत बड़ा माना जाता था और वो भवन था इतना ऊंचा जैसे हम आकाश में बैठे हों और वो जिसके जिस भवन में मैं रहता था वो उस समय चार करोड़ या कितने करोड़ का स्वामी था आज की बात छोड़ो उनका नाम मदन लाल था मैंने कहा मदन लाल जी सच बोलो मैं तो योगाभ्यास करता हूँ विद्या पढ़ता हूँ परोपकार में लगा रहता हूँ यम नियम का यथाशक्ति पालन करता हूँ आप अधिक सुखी हैं या मैं सुखी हूँ तो मदन लाल जी ने कहा कि हम तो कुछ भी सुखी नहीं आप ही सुखी सुख कहाँ है के सुख बालों में है सुख साड़ी में है सुख पैंट में है सुख जूते में है सुख लिपने पोतने में है और सुख नाम की चीज तो आज लगी नहीं ये लिपने पोतने में लगा हुआ ये क्या तमाशा बना क्या एक बुढ़िया माता थी गुड़गावा में तो मैंने कहा माता जी आर्य समाज में आया करो उपदेश सुना करो वो माता जी कहती है महाराज जी मुझे समय ही नहीं मिलता मैंने कहा क्या बात बात क्या है बेटे पोते तो इधर उधर रहते हैं अपने किसी ने कहीं जाकर के काम जमा लिया किसी ने कहीं और इतनी लंबी चोरी कोटी है मैं एक जगह शुद्ध करने लगती हूँ दिन भर शुद्ध करती रहती हूँ वहां से वहां से वहां से दूसरे दिन फिर शुद्ध करने लगती हूँ वहां से वहां से उस कोटी को शुद्ध करती रहती बुढ़िया माता को यही सुख है ये बात है कि सुख कपड़ों में नहीं है सुख मकानों में नहीं है सुख जो है भोजन खाने मात्र में नहीं है कारों में धन में नहीं है वास्तव में इसने एक बात कही सुख दुख को देखो मन से मन में भी सुख है तो सुख है नहीं सुख नहीं है देखो मंत्र में बहुत अधिक बातें कही गई दूसरी बात एक कही गई इसको यही छोड़ता हूं ये आत्म आत्महने जना मंत्र में बात जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान से वृद्ध मानते हैं वृद्ध वाणी बोलते हैं वृद्ध आचरण करते वो महान नरक को प्राप्त इस जन्म में भी भोगते हैं नरक और मरने के पीछे भी नरक में जाते हैं ये कहते आत्म हनय जना आत्मा का हनन कौन करते हैं आत्मा का ज्ञान और है और बात कुछ विरुद्ध बोलता है आत्मा का ज्ञान और है कर्म दूसरे करता है कवि के शब्दों क्या होगा का लक्षण क्या किया है मनसी अन्य मन सी अन्यत वच सी अन्यत कर्मणी अन्यत दुरात्मा नाम ये कौन है दुरात्मा मन सी अन्यत मन में और और वचसी अन्यत वाणी में और कर्मणि अन्यत कर्म में और दुरात्मा नाम इनके जीवन की बात है ये और मनसी एकम वचसी एकम कर्मणी एकम महात्मा नाम आप आत्मी से कर लो आप हम महात्मा है या दुरात्मा है आत्मनिरीक्षण के देखो क्यों जी आत्मनिरीक्षण करके देखो या तो यही काम करने आए हो या बैंक के धन कमाने के लिए ऐसे नहीं आए ये देखो हम क्या दुरात्माएं हैं या स्थान है पर हम यदि अन्यथा है दुरात्मा है तो हम भोगवादी है भौतिकवादी है और हम है मन में जो वाणी में वाणी में जो कर्म में तो हम अध्यात्मवादी तो वेद मंत्र की बात याद रखो कि हम स्वार्थों को ठोकर मार के परोपकार करेंगे आत्मबद्ध कल्याण चाहेंगे और जैसा मन में ज्ञान वैसा वाणी में और जैसा वाणी में वैसा कर्म करेंगे प्राण जी क्यों न चले जाए हम अपने को ऐसा बना के खड़ा करेंगे ओम शांति